उसने कहा ए मूसा क्या तुम हमारे पास आए हो कि अपने जादू से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो